嗯嗯 वैशिष्ट की स्थिति होने से विशेष शरीरों में ही कर्म का अधिकार रहता है बाकी केवल भोग मात्र के लिए होते हैं इस दृष्टि से तीन प्रकार के शरीर किए कर्मदेह भोगदेह और उदय सिर्फ में से तीन को कुछ पूछना है ये सूत्र था 116 समाधि सुजुक्ति मुक्ति की तीन स्थितियां भ्रम रूपता के लिए बताई थी जिसमें दुख की निवृत्ति थी और एक में शरीर नहीं रहता है मुक्ति में शरीर नहीं रहता है बाकी दो में शरीर रहता है ये इसमें जैसी स्थिति बताई थी कि सबके लिए ऐसी ही स्थिति होती है जब सुषुप्ति में काल निद्रा में तो सभी जीवों की एक जैसी स्थिति होती है ब्रह्म रूपता के लिए तीनों में एक जैसा होना चाहिए तो शरीर रहितता को ब्रह्म रूपता के रूप में नहीं कहा था तो वैसे ही कहा था कि इनमें ये भेद है ब्रह्म रूपता के की दृष्टि से जो कथन होगा वो तीनों में होना चाहिए वो तीनों में घटना चाहिए शरीर वाला तीनों में नहीं घट रहा यही प्रश्न है ना आपका नहीं मैं ये सभी जीवों में एक जैसी स्थिति रहती है वो सुषुप्ति अवस्था के लिए जो गाढ़ निद्रा है हाँ। वो अवस्था बताई गई है क्या सभी जीवों के लिए एक जैसी जब सुषुप्ति अवस्था में होते हैं हाँ। जैसे गाढ़ निद्रा भी वो तो सभी जीवों की चाहे वो अपराधी है चाहे वो राजा है हाँ, एक, जैसी, एक जैसी एक जैसी होती है वो किस रूप में कि उसको कोई बोध नहीं होता कि मैं बाहर ये मेरा रूप क्या है बाह्य विषयों से पृथक रहता है वो क्लेशों से रहित रहता है दुखों से रहित रहता है राग द्वेष ईर्ष्या कौन शत्रु कौन मित्र इससे रहित रहता है वो ये सब में समानता रहेगी धार्मिक हो चाहे दुष्ट हो ये ब्रह्मरूपता के समान नहीं है नहीं ये ये तो ब्रह्मरूपता जैसा है ब्रह्मरूपता हाँ, इस रूप में है कि जैसे इन सब से पृथक रहता है इन सबसे क्लेशों से रहित रहता है राग द्वेष से रहित रहता है परमात्मा भी राग द्वेष से रहित है समाधि में भी राग द्वेष से रहित है मुक्ति में भी है तब क्या ये जो हम कारण शरीर की बात कर रहे थे तब ये कारण शरीर जैसा संभव कुछ दिखाई दे रहा है सब जीवों में एक जैसा वहाँ पर लिखा हुआ था महर्षि ने कि सब जीवों में एक जैसा और यहाँ पर भी वही बात समझ में आ रही है और प्रकरण प्रकरण अगर देखें तो उन्होंने जो विवेक वैराग्य जो मुक्ति के साधन बताए और शर्त संपत्ति और कोश तो वो जीवात्मा के लिए ही बताए और शरीर भी फिर जीवात्मा को ही लेकर है तो वहाँ परमात्मा का अर्थ जैसा हम निकाल रहे हैं तो सर्वत्र विभू के लिए हम समझ रहे हैं कि वो फिर विभू ही कहा जा सकता था सर्वत्र साथ में क्यों लगाया कारण रूप होने से सर्वत्र विभू ये जो कहा ये सुषुप्ति जिसमें होती है जिस शरीर में होती है यह सुषुप्ति जिसमें होती है सब में समान होती है मात्र इतना ही नहीं है वहां पर सुषुप्ति जिस शरीर में होती है वो वो शरीर क्या है जो कि कारण रूप है सर्वत्र विभू होने से एक है और सबका समान है वो शरीर समान है स्थिति समान है ये यहां वाला प्रसंग है यहां स्थिति की समानता के रूप में कहा था कि चाहे धर्मात्मा हो चाहे अपराधी हो सुषुप्ति में स्थिति समान होती है और ये सुषुप्ति किसमें होती है वहां वो प्रसंग है जो सूक्ष्म शरीर में होती है कारण शरीर में होती है वो कारण शरीर समान है तो स्थिति तो जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय चार और एक मुक्ति ये तो अवस्थाएं हैं और ये किस शरीर में होती हैं ये एक अलग बात है तो वो जिसमें सुषुप्ति होती है वो सबका समान है और एक है वो परमात्मा हो सकता है ये उस दिन की बात थी ये आपने जो बात कही थी पिछली कक्षा में ये है पूर्व कक्षा में ये स्थिति समान है दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ ना आप समानता को देख के दोनों को एक मान रही हैं सुषुप्ति एक स्थिति है सुषुप्ति किसमें होती है कारण शरीर में वो कारण शरीर सबका एक ही है सुषुप्ति सब समान है ये एक अलग बात है सुषुप्ति की स्थिति क्या स्थिति कि उस समय राग द्वेष नहीं रहते ये राग द्वेष से रहितता ये सब में समान होती है ये समानता अलग है और ये सुषुप्ति किस शरीर में होती है तो कारण शरीर में होती है वो कारण शरीर भी सबका एक है कारण रूप शरीर जो है वो सबका एक है सर्वत्र विभू है तो दोनों अलग अलग है जैसे कि एकाग्रता एकाग्रता एक स्थिति है और वो किस में होती है वो चित्त में होती है मन में होती है तो एकाग्रता और चित्त तो अलग अलग बातें होंगी ना चंचलता और चित्त चंचलता किस में होती है वो भी चित्त में होती है निरुद्ध अवस्था वो भी चित्त में क्षिप्त मूड विक्षिप्त ये सारी अवस्थाएं भूमिया किसमें होती है चित्त में होती है तो भूमिया अलग है और वो भूमियों का आधार उनका आधार आश्रय वो अलग है वो वस्तु वस्तुआत्मक है ये भावात्मक है तो राग द्वेष से रहित स्थिति ये तो भावात्मक स्थिति है और वो सुषुप्ति होती किसमें है आधार क्या है द्रव्य क्या है वो कारण शरीर है ये दो अलग अलग प्रसंगों की बात है समानता को देख के दोनों को एक नहीं कह सकते बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर हम कारण शरीर वाला शरीर नहीं माने शरीर की बात ही नहीं है यहाँ पर शरीर नहीं रहता है शरीर की बात ही नहीं है यहाँ पर मैं तो वो कथन हूं कि सुषुप्ति में समाधि सुषुप्ति मोक्ष ये तीन की बात नहीं यहाँ केवल सुषुप्ति के प्रसंग में मैंने कहा था कि सुषुप्ति में हमारे को कोई भेद ही नहीं रहता मैं बच्चा हूं युवा हूं पुरुष हूं स्त्री हूं क्या हूं धनी मूर्ख अपराधी साधक इसका कोई भेद थोड़ा रहता है हमारे को ये बात मैंने कही थी उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि समानता है तो वो कारण शरीर भी वो एक ही होगा और क्या दोनों में एक है वो समानता समानता शब्द पकड़ के आप समानता देख रहे हैं दोनों अलग अलग बात है जानना था कि जैसे पिछली कक्षा में बात हो रही थी कि हर हम भी कभी इन योनियों में थे और ये भी कभी मुक्त अवस्था में जाएंगे तो ये क्या निश्चित है कि सभी जीव मुक्त अवस्था में जाएंगे जी हाँ जाएंगे और गए हैं कितनी बार कैसा भी हो कभी ना कभी तो वो जाएंगे ऐसा असंभव है कि कोई व्यक्ति सदा निम्न स्थिति में जाए कौतल आएगी किसी को जल्दी आती है किसी को देरी से आती है किसी को एक ठोकर से आती है किसी को सौ ठोकर से आती है आएगी जरूर उतरेगा जरूर आज जो पतित है वो भी सुधरेगा वो पतित ही नहीं रहने वाला है बनेगा ही सुधरेगा ही आज जो अधिक खा रहा है गलत खा रहा है उससे रोग आ रहे हैं अभी वो नहीं सुधर रहा है बताने से नहीं सुधर रहा है थोड़ा सा रोग आया फिर इलाज करा लिया औषधि ले लिया फिर वही गलत खान पान कोई नशा थोड़ा रोग हुआ नहीं सुधरा थोड़ा इलाज कराया करा लिया फिर भी वैसा ही वैसा चला कोई शुरू में ही समझ जाता तो कोई करते करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी तो वहां उसको भी सुधरना पड़ता है कभी ना कभी यहां तो फिर भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद पर यहाँ तो कभी ना कभी तो सुधरना ही है अनेक सृष्टियों में भी हो सकता हो सकता है अनेक सृष्टियों में चार अरब बत्तीस करोड़ ये हुआ इतने में भी किसी को मुक्ति ना हो कई सृष्टियों में वो छत्तीस हजार बार सृष्टि का समय है मुक्ति का काम इतना या इससे भी अधिक इधर चल सकता है तो कब किसको समझ में आ जाए कौन समझ ले अपना प्रयत्न कौन कर ले और लग जाए इसमें वो भिन्नता सबकी रहेगी लेकिन हम मुक्ति में गए हैं और जाएंगे हम सब ऐसा ही चाहते हैं कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो और कितनी बार गएंगे एक दो बार नहीं पीछे मैंने चर्चा की थी इसकी पहले चर्चा नहीं की थी यहां पर नहीं आई चर्चा आई थी अनंत बार गए हैं और जाएंगे कितनी बार अनंत बार ये चर्चा आई थी नहीं आई यहां नहीं आई उसको संभव पड़ा अभी तो यही संशय हो रहा है कि एक बार भी गए होंगे या नहीं गए होंगे कितनी बार गए होंगे अब ये तो अनादिकाल से चल रही है अनंत काल तक चलता रहेगा ये आना जाना ठीक है संख्या अनंत होती है एक से शुरू करते हैं और कहां समाप्ति है इसकी कहा कोई समाप्ति नहीं ना करते जाओ करते जाओ और उस अनंत में कुछ और जोड़ दो तो कितना होगा अनंत और अनंत में से कुछ घटा दो तो अनंत ही रहेगा अच्छा इस अनंत संख्या में सम संख्याएं कितनी हैं सम का मतलब है दो चार छह ऐसे जिसका दो से विभाज्य होती है जो कितनी है अनंत और विषम संख्याएं कितनी है अनंत और तो सम संख्या है अनंत विषम संख्या है अनंत और दस का पहाड़ा कितना है दस बीस चालीस नौ का पहाड़ा अनंत क्या चीज अनंत नहीं है दो का पहाड़ा तीन का पहाड़ा चार का पहाड़ा करते जाओ करते जाओ सब कुछ अनंत ही अनंत है कितना ही घटा लो पूरी संख्या अनंत है उसमें से मान मतलब लो निन्यानवे का पहाड़ा अलग निकाला पूरा दस बार हो गया और उसके आगे भी चलाते जाओ तो भी अनंत ही बचेगा तो अनंत में सब कुछ अनंत होता है अनादिकाल से सृष्टि चल रही है अनंत काल तक चलेगी तो उसमें कितनी बार सृष्टियां होंगी अभी तक अनंत कितनी बार होंगी अनंत कितने जन्म लिए हैं अनंत कितने लेंगे कितनी बार मुक्ति गए हैं कितनी बार जाएंगे अनंत में तो सब कुछ अनंत है कोई कह नहीं संख्या तो सादी है एक से शुरू होती है और उधर अनंत होती है एक से शुरू होती है बाकी जो अनंत है वो अनादि भी होनी चाहिए तो संख्या तो एक से शुरू होती है कोई शून्य से कर लेते एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार करते पीछे भी कोई सीमा है क्या इसकी प्रारंभ भाई एक ही तो सबसे छोटी संख्या नहीं है सबसे छोटी संख्या क्या है शून्य शून्य तो कुछ है ही नहीं शून्य और एक के बीच में एक से छोटी संख्या होती है या नहीं क्या होती है एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार एक बटा दस एक बटा लाख एक बटा करोड़ एक बटा अरब एक बटा मील एक बटा खरब नीचे कुछ यूं है ना कितने भी शून्य लगाते जब एक बटा एक जितने चाहे शून्य लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ शून्य नहीं बनेगा वो शून्य से ज्यादा ही मान होगा उसका कुछ ना कुछ ज्यादा होगा तो संख्या का प्रारंभ है इधर कुछ अथवा दशमलव में ले लीजिए दशमलव एक दशमलव दो दशमलव तीन और दशमलव चार और दशमलव एक लाख दशमलव एक करोड़ जो जो भी करना हो दशमलव के लगा लो एक ही बात है बटे हुए में ले लो चाहे दशमलव में ले लो तो ना तो आदि है ना अंत है अनंत है कई बार बच्चे नए पूछते हैं कि अनंत तो कुछ होता ही नहीं है परमात्मा को अनंत अनंत कहते हैं हर चीज तो शादी है तो उनको संख्या का उदाहरण दे सकते हैं कि संख्या देखो अनंत है या नहीं वो आधुनिक पढ़ा लिखा होगा वो तो कहेगा हाँ, अनंत ही है शांत तो वो मान नहीं सकता ना तो आगे और न पीछे या माइनस में करते जाओ माइनस एक माइनस दो माइनस तीन करते जाओ कितना भी चले पीछे तो अनंतता का कोई उदाहरण अगर हमारे को देना हो तो संख्या का दे सकते हैं और तो कोई अनंतता का बनेगा नहीं हम हैं आकाश को अनंत वो इतना समझेंगे दे देते हैं आकाश का शून्य आकाश पूरी स्पेस उनको उनको यूं कहें स्पेस कहां तक है आ, हाँ, वो तो पता नहीं कहां तक पर वो यूं कह सकते हैं वो तो शून्य है वो तो कुछ है ही नहीं परमाणु कितने हैं इस पृथ्वी पर अनंत तो कहेगा लेकिन फिर भी संख्या गिनी जा सकती है गणना कर लेते हैं इतनी है तो पृथ्वी पर दस की घात इतनी इतने परमाणु हैं इतने बालू के रहते हैं इतने परमाणु हैं बिल्कुल संख्या आ जाती है इतना द्रव्यमान है इतने परमाणु है वो घात में आ जाता है तो वैसे नहीं गिन सकते हम घात में लगा के करते हैं गणित में ten raise to power two three four ten ऐसा इसको घात बोलते हैं दस की घात दस दस की घात सौ पांच ऐसे उतने शून्य लग जाते हैं तो दस की घात सौ लिखा हुआ है तो उस पर सौ शून्य आगे लग जाएंगे और लग जाएंगे ऐसे घात जो कहते हैं रेस टू पावर बोलते हैं उसमें तो फिर भी गिना जा सकता है और पृथ्वी ही नहीं ये जो अंतरिक्ष में खाली जगह है उसमें भी सौ में परमाणु भर दें तो कितने होंगे परमाणु वो भी संख्या आ सकती इतनी सी जगह में ये घात वाला ऐसा है थोड़े से नहीं ही सारी संख्या आ जाती है वो लिखना नहीं पड़ता कि कहां लिखो कि शून्य शून्य शून्य शून्य घात लगा दिया शैली है अभिव्यक्ति की तो अनंत कितनी बार मुक्ति में गए हैं क्या संभावना है संभावना का नियम काम करेगा ये वो भी तो गणित में काम करता है संभावना का नियम विज्ञान भी तो संभावना का नियम से काम करता है लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी एक सिक्के को उछालेंगे तो कितने बार चित और कितने बार पट पड़ेगा वैसे पता नहीं है लेकिन फिर भी संभावना है कि संभावना बनेगी पचास पचास प्रतिशत ठीक है कभी पैंतालीस पचपन हो जाएगा चालीस साठ हो जाएगा लेकिन औसत जो निकलेगा मीन निकलेगा वो संभावना के नियम से पचास पचास प्रतिशत ठीक है सबकी संभावना है हमारी मृत्यु की क्या संभावना है मृत्यु की क्या संभावना है शत प्रतिशत संभावना है निश्चित है अच्छा कब होगी इसकी क्या संभावना है कब होगी कौन से साल में होगी अभी साल का मिनट छोड़ देते हैं कौन सी संभावना है अभी मान लो पंद्रह चल रहा है नहीं कुछ संभावना तो होगी इक्कीस हजार पंद्रह में मृत्यु की संभावना है क्या मेरी अभी दो हजार पंद्रह चल रहा है इक्कीस हजार पंद्रह में मेरी मृत्यु की संभावना है क्या है तब पच्चीस हजार पंद्रह में मेरी मृत्यु की संभावना है क्या पच्चीस सौ दो हजार पांच सौ पंद्रह में मेरी मृत्यु की संभावना है क्या चलो और जी गए कोई चालीस पचास साठ साल और लगा सौ साल को या कर हजार ठीक है तो चलो दो हजार या ये पूरा होता है इक्कीस सौ वाला भाग उससे पहले पहले संभावना है आप भी कह सकते हो ना अपना कि हाँ इससे आगे संभावना नहीं है अब जितने साल बचे अब उसमें विभाजन कर सकते हैं इस साल भी मर सकते हैं अगले साल भी और अगले साल भी और उसमें भी संभावना देख सकते हैं कि भाई अभी अवस्था कैसी है स्वास्थ्य कैसा है जीवन कैसा जी रहे हैं तो अभी कुछ ही साल में जाने की संभावना है या कुछ अधिक संभावना है तो संभावना के नियम से बहुत सारी बातें होती हैं इसमें भी संभावना हाँ। जो हम उपासना कर रहे हैं तो हमारे पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप जो फल मिल रहा है उसके कारण हम उपासना की तरफ पड़े हुए हैं और कर रहे हैं तो हमारे पुण्य कर्म किसी क्षय हो रहे हैं या साधना और उपासना करने से हमारे पुण्य कर्म बन भी रहे हैं साधना उपासना से अलग से पुण्य क्षय नहीं हो रहा है वो जो शरीर मिला है उसकी कीमत तो हम चुका के आ चुके हैं ठीक है वो कर्माशय तो हमारा भोग में आ ही रहा है प्रारब्ध जिससे ये शरीर मिला इंद्रियां मिली वो तो कीमत चुक चुकी है अब हम इसका उपयोग साधना उपासना में कर रहे हैं तो कोई नया पुण्य क्षय नहीं होगा वो तो हम चुका चुके हैं अच्छा भोजन दोनों समय तीनों समय हम कर ही रहे हैं उतनी कीमत हमने चुकाई दी है अब चाहे साधना कर लेंगे तो कोई अतिरिक्त क्षय नहीं होगा उसका कोई हाँ, तो नहीं हवा तो ले ही रहे हैं हम श्वास तो ले ही रहे हैं पानी का उपयोग कर ही रहे हैं इत्यादि यानी कुछ मूलभूत खर्चा तो हम कर ही रहे हैं वो तो जा ही रहा है अब उस खर्चा होने की स्थिति में हम इसका कुछ अतिरिक्त उपयोग कर रहे हैं इससे कोई पुण्य क्षय नहीं होगा जो क्षय होना है वो तो हो ही चुका है हम साधन है हमारे पास में मूल्य चुका चुके हैं मूल्य चुका रहे हैं अब इसका हम जो उपयोग कर रहे हैं किसी परोपकार के अंदर सेवा के अंदर ये हम उसका नया कर्म कर रहे हैं इससे कोई अलग से नया पुण्य का क्षय नहीं होगा इतनी अति में जाके आशंका नहीं करनी उपभोग अगर कर रहे हैं कुछ तो पुण्य क्षय होगा हम पानी अधिक खर्च कर रहे हैं हम बिजली अधिक लगा रहे हैं हम कपड़े अधिक पहन रहे हैं हम जूते अधिक रख रहे हैं हम खा अधिक रहे हैं इत्यादि जो जितना खर्चा कर रहा है अपने लिए उतना उतना खर्च पुण्य खर्च होगा अब वो खर्चा करते हुए वो उतना ही कमा लेता है यदि उससे ज्यादा तो वो दुख का कारण नहीं है लेकिन खर्चा तो बहुत कर रहा है लेकिन पुण्य नहीं कमा रहा है उससे तो वो घाटे हैं जैसे कोई व्यापार करता है आता है जाता है गाड़ी में सामान को ले जाता है तो उसमें खर्चा बैठा सौ रुपए का और कमा लिए उसने दो सौ तो सौ हो गया वो खर्चा खर्चा नहीं माना जाता है ठीक है सौ कमा लिए अब किसी ने सौ रुपए खर्च भी कर लिया इधर उधर घूमने में और कमाया कुछ नहीं तो सौ रुपये उसके लिए कटे तो दोनों के सौ सौ हैं लेकिन दूसरे ने अतिरिक्त कमा लिया इसलिए वो कुछ कष्ट की बात नहीं है दुख की सोच की बात नहीं है हम जो खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर वो तो कुछ तो होना ही है उसके बदले में हमने बहुत कुछ कमा लिया नए पुण्य कर्म कर लिए तो इसीलिए तो ये खर्चे के लिए दिया हुआ था परमात्मा वो तो करना ही है इतने कंजूस कौन ना हो जाएंगे इतने कंजूस मक्खी चूस इसे कहते हैं मक्खी चूस मक्खी को कोई चूसता है क्या <laughs> मक्खी को तो कोई भी नहीं चूसता है लेकिन उसके दूध में मक्खी गिर गई थी और सोचे कि मक्खी को फेंकूंगा तो थोड़ा दूध भी चला जाएगा तो क्या करें चूस करके फेंकी उसको कि दूध भी आते नहीं ये है कंजूस मक्खी चूस ये तो यू मक्खी को चूसता है क्या अथवा अपने चप्पल को किसने से बचाने के लिए जो नंगे पांव चलता हो और चप्पल को हाथ में लेके चलता हो या सिर पर रख के चलता हो ऐसा तो करना नहीं है ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं तो ऐसे पुण्य खर्च में कोई दुख नहीं है इतना तो करना ही है हमारे को कंजूस नहीं बनना अति नहीं करनी है आवश्यकता से अधिक खर्चा नहीं करना है बस इतना ही मितव्य ही रहना है इतना ही तात्पर्य है उसका अति व्ययी नहीं होना है और कुछ यही जानना था इससे हमारा पुण्य कर्म नया बन रहा है या नहीं उससे नया पुण्य भी नहीं बन रहा है दो दृष्टियां हैं उसमें कुछ लोग उससे पुण्य भी मानते हैं जो ध्यान साधना आदि करते हैं इससे पुण्य यानी कर्माशय बनता है ये भी मानते हैं कुछ लोग तो मेरी समझ इस तरह की बनी रही बनी हुई है मेरा झुकाव इस तरफ है इससे संस्कार तो अच्छे बनते हैं हमारे उस रूप में बहुत उपयोगी होगा वो मुक्ति के लिए लेकिन कर्माशय नहीं बनेगा कर्माशय में परोपकार या परापकार दूसरे की हानि या दूसरे का लाभ जहां जुड़ जाता है तो फिर वो हमारे हमारे कर्माशय में जाएगा तो इसमें हम अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं किसी का कोई अन्य का भला नहीं कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं उसका जो लाभ होना है वो हमें तो मिल जाएगा उससे कोई कर्माशय नहीं ये ये जो तो काम है हाँ तो ये हमारे जो भोग हैं उनको भी उनका शेयर होता होगा जैसे हम क्रिया बाहर कर रहे हैं ध्यान में भी हम क्रिया करते हैं अंदर करते हैं और अंदर भी दुख भी होता है प्रसन्नता भी होती है तो क्या वो भोगों का भी शेयर होता है ये भोग नहीं है ये हमारे नए कर्म है हम अपने साधनों का उपयोग अपने को अच्छा बनाने के लिए करते हैं जैसे हम अपने मकान को साफ सुथरा करते हैं अब उसमें कोई खर्चा नहीं हमने मकान को के लिए जो खर्चा देना था वो दे रखा है पहले से अब मेहनत कर रहे हैं तो मकान साफ हो गया ऐसे ही जो मन बुद्धि इंद्रिया आदि हमें मिली है इसका खर्चा तो हमने दे ही रखा है वो कर्माशय तो क्षीण हो ही गया हम ही ने इसको मलिन भी किया था अब हम इसको साफ कर रहे हैं इसमें कौन सा नया खर्चा हो रहा है हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं उसमें ना तो कोई हमारा पुण्य बन रहा है ना कोई हमारा पैसा जा रहा है हम मेहनत कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं घर को बस ऐसे ही अपने अंतकरणों को हम साफ कर रहे हैं ध्यान उपासना के समय संस्कारित कर रहे हैं अच्छे संस्कार ला रहे हैं बुरे संस्कार हटा रहे हैं नियम अपना कर रहे हैं इसमें कोई मूल्य नहीं होता है हम अपने कपड़े धोते हैं उसमें कोई हमारा हमारे को कोई वेतन नहीं मिलता है हम अपना कर रहे हैं अब दूसरे का करेंगे तो वेतन मिलेगा पारिश्रमिक मिलेगा अपने लिए क्या है हमारे लिए कर रहे हैं नहीं करें तो नहीं करें करें तो करें उसके लाभ हानि से बस प्रभावित होंगे कोई रुपया नहीं मिलेगा हमारे को ऐसा ही ध्यान करना में कोई बोलो तुम नोट से इनको बोलो अच्छा एक सौ तो बत्तीस नंबर सूत्र त्रिधात्रायणाम व्यवस्था कर्म देह उपभोग देह उभय देह हम्म। तो इसके अंदर आपने पहले एक बार बात रखी थी कि जब वो नया जन्म मिलता है तो कर्म देह होता है मुक्ति से लौटने के बाद तो उस जन में इंद्रियां जो होती है वो सामान्य वो होती है साधारण ऐसा आपने कहा था हम्म। तो यदि साधारण इंद्रियां हो भी तो भी मतलब अंदर से तो वो उस समय शुद्धि होता है क्योंकि पूर्व जन्म का कर्माशय तो उसके अंदर होता नहीं क्लेश रूपी ठीक है शुद्ध रहता है तो मतलब ऐसे तो देखा जाता है कि इंद्रिया चाहे सामान्य क्यों ना हो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब अच्छे होते हैं जिनकी मतलब बुद्धि उनकी विकृत कही जाती है जिनके अंदर संस्कार जो है अंदर के विपरीत हो वहां तो कुछ होता नहीं है अंदर के विपरीत तो उसके अंदर मतलब जो विवेक ख्याति की प्राप्ति जैसी मतलब वहां पर शुद्ध बुद्धि होने के कारण इंद्रिया चाहे भले ही थोड़ी छोटे स्तर की हो लेकिन मतलब वो समझ तो सबसे अच्छी प्रकार से इस जगत को लेता है ऐसा नहीं ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि भाई अंदर से तो शुद्ध है इनका कहना है कि मुक्ति से आत्मा लौटी है तो अविद्या तो है नहीं उसमें पुराने बुरे संस्कार भी नहीं है तो अंदर से तो शुद्ध है वो अब शुद्ध है तो मतलब विवेक की स्थिति है ऐसा ये कह रहे हैं तो तो बिल्कुल ठीक देख रहे हैं तो इंद्रियां भले ही सामान्य हो तो भी विवेक जैसी स्थिति होनी चाहिए विवेक एक ज्ञान की उच्च स्थिति है वो ज्ञान अधिकृत किया जाता है शुद्ध तो है ये जो जन्म लेगा इसके पास ज्ञान ही नहीं है केवल अपना सामान्य जीवन चलाने के लिए ज्ञान है आत्मा है परमात्मा है मुक्ति होती है ये कुछ भी ज्ञान नहीं है उसको अंदर की शुद्धता का मतलब उसमें मलिनता नहीं है लेकिन अल्पज्यता तो है अभी उसने उस ज्ञान को संग्रहित नहीं किया है प्राप्त नहीं किया है वो अनुभव नहीं लिए हैं जीवन के कि संसार में दुख होता है ये उसको अभी तक पता ही नहीं है तो वो जो विवेक आता है योगी में वो इसके पास लेश भी नहीं है इसलिए आपको कह रहे कह रहे हैं कि वो अंदर से पवित्र है पवित्र नहीं हो तो बस कुछ भी नहीं है उसके पास में इसलिए वो मुक्ति में नहीं जा सकता वो विवेक की स्थिति नहीं है और जब वो जन्म लेता है तो इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या अविद्या वैशेषिक का सूत्र संस्कार दोष तो से तो उसको अविद्या होगी नहीं क्योंकि पिछले संस्कार तो है नहीं वो तो अभी जो हम जन्म लेते हैं इनमें संस्कार दोष तो से अविद्या होती है या जीवन में होती है उसमें इंद्रिय दोष तो से अविद्या होती है कैसे शुरुआत होती है कि जब वो किसी चीज को खाएगा पिएगा भोगेगा तो उसको सुखी लगेगा उसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और उसी को वो प्राप्त मानेगा उसी को अपना लक्ष्य बनाएगा प्रारंभ में सबके साथ यही होगा फिर जब उसको करेगा भोगेगा देखेगा कि इससे तो तृप्ति नहीं हुई और पाने का प्रयास करेगा जैसे आज चल रहा है तंत्र वैसे वो भी करता है अब जो निष्कर्ष निकालता जाएगा समझता जाएगा वो तो विवेक को प्राप्त होता जाएगा और धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा नहीं तो उधर जाता जाएगा जब तक जाना है जब तक सीखता नहीं है इसलिए मुक्ति से जो आत्मा लौटी है उसकी शुद्धता का वो अर्थ नहीं है जो कि योगी की शुद्धता होती है वो तो ज्ञान सहित शुद्धता है ये तो अज्ञानी है बिल्कुल शुद्धता इसी रूप में कि उसमें पिछले बुरे संस्कार नहीं है इस रूप में शुद्धता कह सकते हैं लेकिन ज्ञान भी तो नहीं है बुरे संस्कार नहीं है तो अच्छे संस्कार भी तो नहीं है उसमें वो तो बस सामान्य जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना व्यवहार कर सके इतना ही उसको शुरुआत में परमात्मा ने भेजा है बाकी तो अब सब उसको करना है इसलिए वो विवेक की स्थिति नहीं है जो सामान्य इंद्रिया उसको मिलना आपने कहा है तो वो सूत्र में नहीं है कहाँ से समान है अच्छा, इसमें कुछ नहीं लिखा है उसमें हम थोड़ी सी तर्क उहा गुहा कर सकते हैं कि जन्म के संदर्भ में महर्षि दयानंद ने ये कहा कि जब पाप पुण्य की तुल्यता होती है तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है ठीक है पुण्य अधिक होंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा और पाप पुण्य की तुल्यता है तो सामान्य मनुष्य का शरीर और सामान्य मनुष्यों में भी पाप पुण्य के भेद से अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते ये भी वहां उन्होंने लिखा है ये जो मुक्ति से लौट रही है आत्मा इसका ना तो पाप है ना पुण्य है तो समानता हुई ना दोनों की भेद तो होता पाप और पुण्य के कारण से पुण्य अधिक होते तो बहुत अच्छा मिलता जैसा कि बाद में होगा सूक्ष्म शरीर तो सामान्य मिल गया वो तो एक ही जैसा है सबका उसमें भेद नहीं आने वाला है अब ये जो शरीर मिला है ये सामान्य मतलब सामान्य रूप से स्वस्थ है इंद्रियां जैसे सामान्य काम करती है वैसी है बुद्धि जैसी सामान्य काम करती है वैसी है उनमें रोग भी नहीं है उनमें दुर्बलता भी नहीं है सामान्य का मतलब है कि बस ठीक ठीक बहुत उसमें गुणों का उत्कर्ष भी नहीं है ये सामान्य है लेकिन उपयोग जीवन चलाने के लिए जितना चाहिए जिसको हम बहुत अच्छा कहते हैं वो तो है फिर भी है लेकिन है वो सामान्य ही तो पाप पुण्य की तुल्यता होने से सामान्य मनुष्य का शरीर जन्म मिलता है इसी तरह यहां भी पाप पुण्य बराबर है यानी शून्य शून्य है इसलिए उसको सामान्य ही मिलेगा और चूंकि सब आत्मा इस दृष्टि से समान है पिछले तो कर्म है नहीं पिछले कर्म होते हैं तो भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं अलग अलग अब जब सबके कोई पाप पुण्य किसी का है ही नहीं तो उन सबको कैसा शरीर मिलना चाहिए समान मिलना चाहिए सामान्य मिलना चाहिए ये ईश्वर का न्याय कर्मानुसार दे तो भेद होगा कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र लेकिन जब कर्म बराबर है यानी है ही नहीं कर्म इस दृष्टि से समान है तो फिर भिन्नता नहीं हो सकती उस दृष्टि से उनमें समानता का रहेगा इसलिए भी सामान्य मनुष्य का शरीर इस दृष्टि से निकालता है और जो आपने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बताया तो उसमें शास्त्र का प्रमाण शास्त्र का प्रमाण सीधे सीधे कुछ नहीं है मेरी जानकारी में अभी नहीं है हो सकता है कहीं हो लेकिन ये निराधार भी नहीं है शास्त्र का प्रमाण इस रूप में हम ले सकते हैं कि ईश्वर को न्यायकारी कहा है ये शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वो अन्याय नहीं करता पक्षपात नहीं करता तो जब कोई किसी के साथ अन्याय कर देता है हानि कर देता है अन्याय पूर्वक दूसरे की हानि करता है तो जिसने किया है उसको दंड मिले वो भी एक न्याय है और जो पीड़ित हुआ उसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं या न्याय का मतलब हम केवल ये लें कि जिसने गलत किया है उसको दंड मिले और जो पीड़ित हुआ है उसके उसके प्रति न्याय का कोई दायित्व नहीं है क्या ऐसा न्याय का ले सकते हैं जी उसमें मेरे प्रश्न का हाँ ना है उत्तर दो पहले नहीं नहीं ले सकते ना यानी लेना चाहिए न्याय दोनों पक्षों में होगा जिसने किया है उसका कर्म किया और जो उससे प्रभावित हुआ है उसका दोनों के प्रति उचित व्यवहार है ये न्याय की संपूर्णता परिपूर्णता है ठीक है अब जो पीड़ित हुआ है उसके साथ क्या न्याय हो सकता है मान लीजिए मेरा हाथ काट दिया किसी ने अन्यायपूर्वक मैं, मैं सीधा हाथ काट दिया मैं उससे लिखता हूँ बहुत सारे कार्य करता हूँ अब मेरे को दिक्कत हो रही है जिंदगी भर मेरे को ऐसे ही रहना होगा बाधा कुछ ना कुछ तो होगी मन से कम दुखी हो अलग बात है लेकिन बाधा तो होनी है जो सरलता तो नहीं होगी अब इसका जो मेरा मेरे अपने पुण्य के कारण से जो शरीर मिला था हाथ था वो छिन गया अब मेरे प्रति क्या न्याय होना चाहिए कैसे न्याय करेगा परमात्मा दूसरा हाथ लगाएगा मेरे को उस विषय में जैसे उन्होंने कुछ मतलब बताया नहीं है कि मैं दूसरा हाथ लगाऊंगा नहीं मतलब बताया लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना नहीं उसका ऐसा मतलब ऐसा भी तो अर्थ किया जा सकता है जिस व्यक्ति ने हाथ काटा है उस व्यक्ति का उसमें पुण्य कर्मा खत्म होगा क्यों जो उसमें दूसरे व्यक्ति में आने वाला है जिसका हाथ कटा जो भविष्य में उसको जिस हाथ से सफलता मिलनी थी वो नहीं मिल पाई तो उसका कर्माशय मतलब उसका पुण्य जो खर्च हुआ वो हो रहा है वहां पर खर्च जो तो वो उसको उस पर वो आपत्ति मतलब उसका जो जो फल का भोग है वो काटने वाले को मिलेगा ऐसा भी सुनिए तो ठीक है ये यूं कह रहे हैं एक परिकल्पना कर रहे हैं ये भी क्षतिपूर्ति नहीं आएगा आप उस ढंग से व्याख्या कर रहे हो प्रश्न रुको मैं आपके पास बताता हूं अभी सुनना ये क्षतिपूर्ति पे प्रश्न कर रहे थे कि क्षतिपूर्ति होती है नहीं होती है शास्त्र प्रमाण क्या है मैंने कहा तर्क युक्ति है उनका ऐसे भी तो हो सकता है क्षतिपूर्ति की जैसी व्याख्या मैंने की उससे अतिरिक्त व्याख्या कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है वो तो विचार करेंगे लेकिन ये आप क्षतिपूर्ति मान करके बोल रहे हैं ध्यान रखना आपका मूल प्रश्न ये था कि क्षतिपूर्ति का प्रमाण क्या है आप तो खुद क्षतिपूर्ति को मानते हुए एक समाधान दे रहे हो यानी आप पहले क्षतिपूर्ति को मान चुके हो आपका पहला प्रश्न तो समाप्त हो गया कि क्षतिपूर्ति होती है नहीं होनी चाहिए ये आप भी स्वीकार कर गए अपना उदाहरण देते लेकिन वो क्षतिपूर्ति का प्रकार क्या हो वो आपने एक नया प्रकार दिया है उस पर अभी विचार करते हैं आपके उदाहरण से क्षतिपूर्ति का सिद्धांत खंडित नहीं होता बल्कि आप ही पुष्ट कर गए क्षतिपूर्ति के सिद्धांत एक बात तो ये समझो अब इन्होंने क्या कहा जिस व्यक्ति ने हाथ काट दिया तो उसका पुण्य क्षय होगा ये उसको पाप नहीं मान रहे उसको दंड मिलेगा यूं कह रहे हैं उसका पुण्य क्षय हो जाएगा और उसका जो पुण्य है वो इसको मिल जाएगा जिसका मान लो मेरा हाथ कटा है तो उसका वो जो पुण्य था वो मेरे को मिल जाएगा नहीं उसमें मैंने कहा था उसका फल भोग उसको मिलेगा जो हाथ उसका कटा है मान लो मेरा हाथ कट गया हाँ, हाँ अब क्या होगा भविष्य में उसको जो हाथ कटने से हाथ नए कटने से जो सफलता मिलनी हाँ, वो सफलता उसे नहीं मिली हाँ, तो वो जो मतलब उसको हानि होगी उसकी हाँ, वो हानि का फल उसे भोगना पड़ेगा किसको भुगतना पड़ेगा जिसने हाथ का उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा जी तो इसमें तो उसको तो भुगतना पड़ा एक तरफा मेरा जो मेरे को नहीं मिला मेरे प्रति क्या न्याय हुआ मैंने शुरू में बात रखी थी कि न्याय केवल अपराधी के प्रति होना चाहिए जो जो अपराध से पीड़ित हुआ है उसके भी प्रति और हाना का मैंने पूछा था आपने कहा था कि हाँ इसके प्रति भी होना चाहिए इसके प्रति क्या होगा उसका उत्तर दीजिए चलो वो उसकी व्याख्या हो गई कि जितनी मेरे को हानि हुई इस हाथ के कटने से उसका दंड उसको मिलेगा वो उसका हो गया मेरा जो हाथ कट गया अन्यायपूर्वक इसके प्रति क्या न्याय है वो बताइए मैं तो जी इसमें क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को मानता नहीं इसलिए मैं यहाँ क्या का प्रमाण भी नहीं इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि उसका कोई लाभ आप ये बताओ एक एक बात लेना शब्द प्रमाण नहीं है तर्क युक्ति से भी किया जाता है सीधे सीधे शब्द प्रमाण सब चीजों का नहीं मिलता है मिल भी सकता है अभी नहीं है लेकिन ये मना करने का आधार नहीं है अन्य जो चीजें रखी जाए ईश्वर न्यायकारी है मैं फिर से उसी चर्चा को शुरू करता हूं ये शब्द प्रमाण से सिद्ध है या नहीं है, है? है। न्याय दोनों का होना चाहिए या एक ही का होना चाहिए न्याय तो जी मतलब ईश्वर के जो जो प्रमाण मानेंगे जो शब्द प्रमाण उसी के आधार पर मैं मानू तो क्या शब्द प्रमाण है न्यायकारी न्यायकारी तो जैसे आप बता रहे हैं वैसे नहीं नहीं कैसे है वो आप बताओ मैंने आपको बता दिया जी उसमें जो शब्द प्रमाण बताओ उसका जो व्यक्ति कर्म करता है कर्म का उसको फल मिलता है मिलता है शब्द प्रमाण दो उसका वेद प्रमाण दो वेद प्रमाण वेद के मंत्र तो मुझे याद नहीं लेकिन ये तो ये तो प्रमाण जब रुको रुको जब आप किसी बात को मानने के लिए शब्द प्रमाण को इतने आग्रह से कह रहे हो यानी आप बिना वेद के प्रमाण के मानते नहीं हो ऐसा अपना आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो तो आप ये जो कह रहे हो कि कर्म का फल मिलता है उसके लिए मैं आपसे शब्द प्रमाण पूछ रहा हूं बताओ यानी आप बिना वेद का प्रमाण अपने पास हुए भी मान लेते हैं ना तो जो बाबा अपने साथ ये व्यवहार करते हैं तो मेरे प्रति ऐसा आग्रह क्यों है कि आप भी शब्द प्रमाण ही बताओ ये न्याय है अन्याय है क्योंकि आप आचार्य हैं आप पढ़े हुए हैं पूर्ण रूप से मैं अभी आप आप उस तरह बात नहीं कर रहे आप शिष्य के रूप में बात करते हैं तो अलग उत्तर होता है अभी आप शास्त्रार्थ के रूप में बात कर रहे हैं अब आप गुरु शिष्य के रूप में नहीं आप बराबर के रूप में बात कर रहे हो तो उसमें फिर उसमें ये नहीं कहते कि मैं नहीं मानूंगा ये तो, तो जब माना है जबकि आपने सारी बात सुनी ही नहीं है अभी और जो मैं बोल रहा हूं उसको ठीक सुन नहीं रहे हो और जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं दे रहे हो वापस अपनी नहीं मेरे को नहीं मानना है आग्रह बना रखा है पूरा कर निर्णय के लिए एक एक कदम से चलेंगे प्रमाण पूर्वक बात करेंगे और उसमें जो बात सत्य सिद्ध होती है आप भी मान लो मैं भी मान लू कोई आग्रह नहीं है मैं फिर से एक एक चरण करता हूं उनकी छोड़ दीजिए मान लो वो नहीं करते हैं तो वो इस स्थिति में नहीं है कि अभी स्वीकार करें ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है शब्द प्रमाण से इतना तो सिद्ध है न्याय अपराधी के प्रति ही होना चाहिए या जो पीड़ित हुआ है उसके प्रति भी होना चाहिए न्याय या पक्षपात था न्याय की संपूर्णता किसमें है अगर केवल एक को हो तो न्याय पूर्ण नहीं माना जाएगा उसको दंड मिलना चाहिए इसकी इसकी क्या होनी चाहिए इसके साथ क्षतिपूर्ति शब्द मान लो स्वीकार्य नहीं हो रहा है ठीक है इसके साथ भी न्याय होना चाहिए ये बात वेद के अनुकूल प्रतीत होती है विरुद्ध प्रतीत होती है अनुकूल है क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है अब ये विचारने की बात है कि पीड़ित के प्रति क्या न्याय हो सकता है अब हम संभावना कर रहे हैं अब इसके लिए शब्द प्रमाण नहीं है कि ये ये ये, ये हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा इतना पक्का है कुछ ना कुछ न्याय तो होगा अब उसके लिए कुछ संभावनाएं हैं उस पर हम विचार कर सकते हैं वो दो संभावनाएं तीन संभावना भी कह सकते हैं आगे जाके चार भी कर सकते हैं पहली संभावना उनमें से कोई भी संभावना हो लेकिन होगा अवश्य न्याय अवश्य होगा इतना मेरे को तो पक्का है आप लोगों को भी अधिकांश को पक्का है न्याय कार्य तो होना ही है अब उसमें एक तरीका यह हो सकता है कि हमारे बहुत सारे पाप पुण्य दोनों हैं मेरा हाथ कटने से मेरे को जितनी बाधा हुई वास्तविक काल्पनिक जो मैंने अपना दुख कर लिया अपनी अविद्या अज्ञानता से उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है और उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं होती जैसे मैं अपना हाथ काट दूं तो इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं है जैसे मैंने खुद ने काटा है अन्याय हुआ है तो न्याय की बात शुरू होती है जो मैंने खुद ने किया है तो कुछ नहीं बस खत्म मैंने अपना नष्ट कर लिया और दूसरे ने अगर मेरा हाथ काटा है और मैं कल्पना में बहुत दुखी होता रहा हूं और अपना सारा जीवन बर्बाद कर लू तो उसकी पूर्ति नहीं होगी पूरी हाथ कटने के बाद भी मैं उचित जीवन जी रहा हूं पुरुषार्थ कर रहा हूं अपना कार्य कर रहा हूं <clears throat> लेकिन उसके बाद भी जो हाथ के ना होने से बाधा हो रही है जो वास्तविक बाधा है उसकी पूर्ति होगी उसके प्रति न्याय होगा उसमें न्याय का एक तरीका कि हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं बहुत सारे जिनका फल कभी ईश्वर की व्यवस्था से हमें मिलना था मिलेगा वो ये मान लिया जाए कि इसने भोगी लिया है अब उसको ना दिया जाए ठीक है ये भी एक न्याय है जो फल मेरे को कभी बाद में मिलता मेरे कर्म है ऐसे बुरे अभी ये हाथ कटा है ये मेरे उन पाप कर्मों के कारण से नहीं कटा है उस व्यक्ति ने तो स्वतंत्र अन्याय किया है उसको नहीं पता था मेरा क्या पाप है और इसलिए हाथ काट रहा है वो न्यायाधीश नहीं था वो दंड देने वाला नहीं था उसने तो अपने दोष से काट दिया मेरा हाथ लेकिन जितना मेरे को कष्ट हुआ उतना मेरा पाप कर्माशय जितना उससे मेरे को दुख होता है ईश्वरीय व्यवस्था से वो यदि कम हो गया भोगा हुआ मान लिया गया उतना वो कम हो गया ये भी मेरे साथ न्याय है आगे होता ये हो गया इस रूप में मान लिया चलो कोई बात नहीं ये भी न्याय है अब ये पह, सबसे पहली और प्रबल संभावना है दूसरा कोई कहे कि, कि किसी के पिछले पाप कर्म ही नहीं हो ऐसे इतना कोई पाप ही नहीं हो कि जिसके इतना कष्ट झेलना पड़े उसको तो फिर क्या उपाय फिर भी उपाय तो पिछले पाप छीन नहीं हुए लेकिन इससे जो हानि हुई इसकी पूर्ति हो जाएगी आगे तो बोले आगे कब होगी पूर्ति इस जन्म में तो आना नहीं है हाथ बोले अगले जन्म में आ जाएगा अभी अगले जन्म में आएगा तो इतना समय तो चला गया हमारा वो जो समय गया है उसके सहित पूर्ति होगी जैसे दंड दिया जाता है किसी को भुगतान होता है फिर देर से करोगे तो इतना ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा जितना देर करोगे उतना ब्याज लगता जाएगा उस पर न्यायालय ने निर्णय दे रही न्याय होता है जितनी देर होगी वो सब की भरपाई साथ में जितनी भी देर में होगी और भरपाई ऐसी होगी कि उससे हमें कुछ भी दुख नहीं होगा ऐसी भरपाई होती है हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो पूरी जितनी उचित होनी चाहिए पूरी हो जाएगी कितने वर्षों बाद जो बाधा हुई पीड़ा हुई वो सबको मिलाकर के जो होना है वो सब हो जाएगा अथवा इस जन्म में ही ये अंग कट गया दूसरे अंग की क्षमता ऐसी बढ़ा दी बुद्धि की क्षमता बढ़ा दी इस हाथ में से इतना हो गया और इधर जो बाधा हो रही है मान लो बौद्धिक क्षमता बढ़ा दी सात्विकता बढ़ा दी एक हाथ से व्यक्ति कितना क्या करेगा बुद्धि अगर बढ़ गई तो वो बिना हाथ के भी वो इतना कमा लेगा इतनी सुख सुविधाएं हो जाएंगी उसको किसकी उसको कमी नहीं रहेगी वो किसी सेवक को भी रख सकता है और सुविधाएं रख सकता है यंत्र लगवा सकता है तो इस रूप में कोई भी अंग की अंग में क्षमता बढ़ा करके भी पूर्ति कर सकता है इसी जन्म में भी और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर सकता है ये दूसरा भाग है क्षतिपूर्ति का अब आगे की वैसे तो इन दोनों में ही पूरा हो जाता है कोई परिकल्पना आगे की करें मान लो पिछले कोई पाप कर्म नहीं है और वो कर्म फल नहीं होगा तो भविष्य में कभी कोई पाप कर्म हो ऐसे अभी तक नहीं है पता है कि इसने कुछ कष्ट भोग लिया लेकिन भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो भी कर्माशय में मान करके कि इसने ये भोग चुका है छोड़ो इसको इस रूप में भी न्याय हो सकता है लेकिन ये बात की है ये इतना दिमाग में नहीं बैठता लेकिन पहली वाली और दूसरी वाली इन दो में ही वैसे तो समाधान हो जाता है अब इसके लिए सामान्य लौकिक उदाहरण हम समझ सकते हैं और हम उसको उचित ही मानते हैं मान लीजिए एक बच्चे ने कोई गलती कर दी और कुछ तोड़फोड़ कर दी और मां को उसको दंड देना है तो तोड़फोड़ तो अंदर कर गया और अभी बाहर खेल रहा है दूसरे बच्चे के साथ और मां अंदर है उसको पता लगा कि इसने गलती की जैसे तोड़ दिया लापरवाही की मैं खूब कहा फिर भी इसने ऐसा कर दिया इसको भी दो चपट लगाऊंगी जाकर सके और मां अंदर से निकलती है ये गलत कार्य किया बच्चे ने और ये इसको दंड देना है बाहर आई बाहर दो बच्चे वो खेल रहे थे वो दूसरे बच्चे ने उसके बेटे को दो तीन डंडे मार दिए ऐसे ही अन्यायपूर्वक ठीक है अब आप जाके क्या करेंगे वो दो चप्पल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे क्या उसका वो कर्म था वो नहीं हुआ था गलती तो की थी बच्चे ने क्या करें क्या न्याय है या नहीं आपके मन में यू है क्या कि मैं अन्याय कर रही हूं अगर चपत नहीं लगाए तो अन्याय हो जाएगा नहीं इसको दूसरे ने अन्याय पूर्वक चार डंडे दो डंडे मार दिए उसको धक्का देके गिरा दिया चोट लग गई तो अगर दो चपट में जितना आपका है उतना ही उसको हुआ है तो अब बस आप कुछ भी खाएंगे उसको ले आएंगे अब नहीं मानेंगे नहीं बाद में भी नहीं मानेंगे और यदि यदि उसको ज्यादा मार दिया है तो आप क्या करेंगे जाके उसको कुछ करेंगे थोड़ा और उसको गोद में उठाएंगे अगर ज्यादा कर दिया है तो वो दो चपत भी नहीं लगाएंगे कुछ अतिरिक्त उसके लिए करेंगे और क्या करेंगे वो रो रहा है तो उठा के अंदर लाएंगे तो उसको कुछ खिलाएंगे क्या खिलाएंगे लड्डू खिलाएंगे ये उसके किसी कर्म का फल है क्या ये क्षतिपूर्ति इसकी चोट लगी है तो पट्टी बांधे उसको पुचकारेंगे उसको कोई खिलौना देंगे इतना करेंगे कि वो प्रसन्न हो जाए बच्चा नहीं तो मां करती रहेगी पिता करता रहेगा ये होता है क्षतिपूर्ति परमात्मा वैसा न्यायाधीश नहीं है जो मां और पिता का हृदय न रखता हो वैसा न्यायाधीश नहीं है वो हमारा माता पिता भी है और न्यायाधीश भी है जैसे माता पिता बच्चे के प्रति न्याय करते हैं मातृत्व पितृत्व रखते हुए भी न्याय करते हैं ऐसे वो करता है और ऐसा करे वो दो चपत ना लगाए तो इसको अन्याय नहीं कहते ये उचित है ऐसे ही जो दंड भविष्य में हमें कभी मिलना था हमारे पिछले कर्मों के कारण से और किसी दूसरे ने हमारे को हानि कर दी अब वो भी तो परमात्मा का पुत्र ही है एक तरह से हम सब पुत्र हैं कोई भी हमारी हानि भी करता है वो भी परमात्मा का पुत्र ही है बच्चे हैं हम आपस में परमात्मा की दृष्टि से और खेल खेल में जीवन जीते हुए उसने मेरा हाथ काट दिया तो उसको तो धन मिलेगा और मेरी भी चलो उसका जो है वो भोगा हुआ मान लिया जाएगा जो फल आगे मिलना था वो नहीं मिलेगा हो सकता है अब इस घटना को दूसरे ढंग से देखिए पहली घटना में तो ये था कि बच्चे ने कोई गलती की थी और दो चपत लगाने के उद्देश्य से मां बाहर निकल रही थी आप घटना ये लीजिए कि कोई गलती नहीं की थी और न मां चपत लगाने के लिए बाहर निकल रही थी वो तो वैसे ही बाहर निकली और उधर घटना वैसी की वैसी है दूसरे बच्चे ने तीन चार डंडे मार दिए उसके अब के व्यवहार में और पिछले वाले व्यवहार में अंतर होगा या नहीं मां के व्यवहार में अंतर आएगा अभी वो अधिक स्नेह देगी अधिक पूर्ति करेगी अधिक ध्यान रखेगी और पीछे चपत वाले में और अगर बराबर हो तो आखिर इतना तो बोल देगी कि अपने आप देखो इसको धन गलत करेगा तो गलत होगा ऐसा कुछ ना कुछ बोल देंगे मैं तो तेरे ऐसे मारती है अभी तो ठीक है उसने कर दिया नहीं तो तू तो ऐसा करके आया इतना तो बोल अंतर होता है अगर हमारे पाप कर्म है तो वो घट जाएंगे अगर पाप कर्म नहीं है तो परमात्मा पूर्ति करेगा अतिरिक्त पूर्ति करेगा न्याय उचित है और इस बात का वेद से कहीं विरोध नहीं है इस बात का वेद के किसी सिद्धांत से वाक्य से विरोध नहीं है इसलिए ये वेद सम्मत है ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है वेदों का जो प्रमाण देखा जाता है वो ऐसे नहीं देखा जाता कि हर चीज वहां जो कि तू लिखी भी हो वेदों में सीधा लिखा है तो ही प्रमाण मानेंगे तो नहीं मानेंगे ये कोई शैली नहीं है ऋषियों की शैली नहीं है जो ठीक जानते नहीं है और वेद वेद प्रमाण बोलते रहते हैं वो ऐसा आग्रह कर बैठते हैं कि वेद में सीधे दिखाओ नहीं ये कहां लिखा हुआ है मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए वेद में लिखा है नहीं लिखा कहां लिखा बोलो बताता हूँ जी मैं मंत्री आज हाँ बताओ और कोई वेद के विद्वान हो तो बोले नजर से प्रतिमा उसकी प्रतिमा नहीं होती है अच्छा। जिस से नाम है जैसे इसमें ये कहा लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए मेरे वाक्यों पर ध्यान दो तो प्रतिमा नहीं है तो मूर्ति पूजा सोना ही खंडित ये अलग बात है मैं यही तो कह रहा हूं कि सीधे सीधे वेद में लिखा है ये कोई नियम नहीं होता अब मैं सीधा पूछ रहा था मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए वेद में लिखा है क्या इन्होंने कहा हाँ और उदाहरण क्या दिया न तस्य प्रतिमा से उसकी प्रतिमा नहीं होती आपकी बात मैं मान रहा हूं कि जिसकी प्रतिमा नहीं होती तो तात्पर्य निकल के आएगा फिर पूजा नहीं करनी चाहिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए आपकी बात पे मैं असहमत नहीं हूं लेकिन आप ही ने इस बात को स्वीकार कर लिया यही मैं कहना चाह रहा था कि सीधे सीधे सारी चीज वेद में लिखी हो ये आग्रह करना दुराग्रह है हट है ये खुद भी नहीं करते ये मैं उदाहरण नहीं देता ये तो खुद वैसे वहीं फंस गए जहां जहां मैं इनको ले जाना चाहता ये वहीं पहुंच गए इन्होंने खुद ही बोल दिया वैसे मैं बोलूं तो बोले नहीं कि सीधा प्रमाण होना चाहिए भाई आप क्यों मानते हो ऐसा आप में भी कुछ समझ है और आपने ठीक उत्तर दिया ऋषियों में आपसे भी ज्यादा समझते वेद में सीधे सीधे लिखा है वो भी मान्य होता है सीधे सीधे निषेध है वो भी मान्य होता है और कोई ऐसा निष्कर्ष जो सीधे सीधे वेद में नहीं लिखा है वो भी हम निकालते हैं और वो वेद के अनुकूल तब तक माना जा सकता है जब तक वेद में उसके विपरीत कोई बात ना हो उसका खंडन ना होता हो भले ही वेद में कुछ भी ना लिखा हो उस विषय में लेकिन वेद के किसी सिद्धांत से उसका विरोध नहीं आ रहा है तो उसको वेद सम्मत ही माना जाएगा श्रोत ग्रंथों में और इनमें जो बहुत सारे विधान है सीधे सीधे वेद में नहीं है ये प्रसंग आता है मीमांसा दर्शन के अंदर इसको हम प्रमाणिक माने या नहीं वेद की वेद की बात है या नहीं है बोले वेद की किसी श्रुति से इसका विरोध नहीं आता ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है पूरी परंपरा ये मानती है इस बात को उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है शुरुआत हमने न्यायकारिता की शब्द प्रमाण से की महर्षि का भी प्रमाण है ऋषियों का प्रमाण है न्याय दोनों का होना चाहिए युक्ति संगत है न्याय पीड़ित का क्या क्या हो सकता है जो दो तीन संभावनाएं ये हमारे सामने युक्ति संगत देखा कि हाँ ये उचित है ये न्याय संगत है अपने व्यवहार से हमने पुष्टि की अब इस बात का वेद की किसी बात से विरोध नहीं है इसलिए ये वेदानुकूल है अब आपको बताना है ये वेद विरुद्ध है तो वेद के किस सिद्धांत से विरुद्ध है किस मंत्र से विरुद्ध है ये अब आपको बोलना पड़ेगा अगर किसी से विरोध आता है तो इसको नहीं मानेंगे अगर नहीं है तो इसको मानना होगा ये वेद सम्मत है उचित है अब बोलो मैं तो जी वेद का तो प्रमाण नहीं दे सकता लेकिन ऋषियों ने इस विषय में कुछ नहीं कहा जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा हालांकि इसकी यदि विवेचना करें तो परमात्मा की जयकारिता का ये जो विषय इतना जटिल है कि उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है अगर लोग ऐसा तक कह देते हैं विद्वान और इस विषय में मैं मतलब आपकी तर्क युक्ति से तो सहमत हूँ लेकिन वेद का प्रमाण नहीं है ऋषियों ने नहीं कहा वेद का प्रमाण चलो विरोध में नहीं है लेकिन ऋषियों ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा इसलिए चलो मैं आपकी बात तर्क युक्ति से मानता हूँ लेकिन फिर मेरे लिए नहीं आगे मान लो तर्क को भी ऋषि कहा है या नहीं <laughs> तर्क को ऋषि कहा है नहीं निरुक्त के अंदर बात आती है क्या वे जब ऋषि नहीं रहेंगे तब कैसे करेंगे बोले तर्क ऋषि है तर्क भी ऋषि है जब आप इतना स्वीकार कर गए तर्क युक्ति से <laughs> तो ऋषि से है और सुनो यस अनुसंधत्ते सधर्म वेद न इतना अगर सब कुछ शास्त्र में ही लिखा होता उसी आधार पर निर्णय हो रहे होते तो ये कहने की जरूरत क्या थी ये जो तर्क से अनुसंधान करता है वो धर्म को जानता है नहीं तो नहीं जानता तर्क की आवश्यकता हुई नहीं तर्क एक ऋषि है तर्क से हम निश्चय करते हैं तर्क को न्याय दर्शन भी स्वीकार करता है प्रमाणों के अनुरूप होता है तो प्रमाणों के विपरीत है तो कुतर्क हो जाएगा मैंने जो अभी सारी बातें बोली हैं वो प्रमाणों से कहां विपरीत है ऐसा कोई बताए तो मैं स्वीकार कर लूंगा मेरे को प्रमाणों के अनुकूल लगती है इसलिए तर्क प्रमाणों का सहायक होते हुए विषय के निश्चय कराने में सहायक होता है और धर्म का अनुसंधान करना है सूक्ष्मता में जाना है तो तर्क का सहारा लेना पड़ेगा और यदि आप पहले ही हथियार छोड़ देते हो ये मान करके कि कर्म का कर्म कर्मणा गहनो गति कर्म की बहुत गहन गति है और विद्वान भी उसमें मोहित हो जाते हैं और निश्चय नहीं होता है अगर आप वहां पर संतुष्ट हैं कि भाई इसमें तो अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं जो होगा जो होगा तो कोई बात ही नहीं है फिर तो आपका ये विषय ही नहीं है छोड़ दीजिए उसको कि ये तो हम पूरा जान ही नहीं सकते तो छोड़ दीजिए उसको लेकिन अगर आप इसमें जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कुछ यहां यहाँ करनी है तो, तो आपको चर्चा करनी है और उसका आधार कर दीजिए बोलिए ठीक है मैंने नहीं कहा विचारो खूब विचारो मनुष्य का लक्षण है और विचार के ही स्वीकार करना चाहिए जिस दिन आप विचार के स्वीकार करेंगे उस दिन ऐसे दृढ़ हो जाएंगे जैसा मैं अब बिना विचारे मान लेंगे तो दूसरा कुछ बोलेगा तो फिर डिग जाओगे हाँ ये भी बात ठीक लगेगी वो डिगते रहोगे इधर उधर इससे विचार हो अच्छी बात है मीमांसा दर्शन में एक न्याय आता है स्थूणा विखना न्याय स्थूणा कहते हैं खंबे को खंबा होता है मलखंब है कोई भी बल्ली है हमारे को गार्डनिंग है करनी है पाइप है टेंट वेंट लगाना है ये अपने बिजली के तार खंबे जो भी कुछ गाड़ते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं गड्ढा खोदते हैं गड्ढा खोदते खोद के उसको डाल देते हैं उसमें और आसपास में मिट्टी पत्थर भर देते हैं ठीक है उसको क्या दृढ़ करने के लिए भरते हैं ना ताकि वो हिले नहीं लेकिन कई जने क्या करते हैं वो करके फिर उसको हिलाते हैं हिलाते हैं ना तो उद्देश्य तो दृढ़ करना था वो हिला क्यों रहे हैं उसको और ढीला कर देते हैं उस हिलाने से जो जगह बची हुई थी वो इधर उधर हो जाती है जो भी कुछ है फिर जो जगह दिखी वहां फिर और डाल दिया फिर और इधर उधर हिला दिया फिर और बची तो डाल दिया अब कैसा बन जाएगा वो तो खंबा गाड़ के जो उसको इधर उधर हिलाना है ये उसको ढीला करने के लिए नहीं है इसको उसको दृढ़ करने के प्रयोजन से है नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है ये कोई कहेगा ये तो नकारात्मक है तो तो अच्छा सा भरा हुआ लग रहा था आपने इधर उधर करके और कर दिया ये ये क्या हानि कर दी इसकी वो नकारात्मक भी कह सकते हैं ये सकारात्मक है उसको दृढ़ करने के लिए इसको कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय खंबे को निखनन करते हैं गाड़ते हैं उसमें इस शैली का उपयोग करते हैं तो ये जो विचारना है खूब विचारो ताकि जहां कहीं भी जगह बचे ना इधर उधर हिलाने से वहां और फिर कोई चीज डले और वो डल डल करके ऐसा हो जाए फिर वो कितना भी लाभ वो हिलेगा नहीं वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा तो खूब बिचारी और कोई चले आगे आचार्य जी की संस्कारों के अभी चर्चा हुई थी कोई व्यक्ति विवेक को प्राप्त होने के बाद अपना उपासना का अभ्यास ज्यादा करता है और लेकिन फिर भी उसके कुछ दोष दल भी भाव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो उससे उसके दर्द तो हो रहे हैं संस्कार और उसके द्वारा कर्माशय तो बन ही रहा है ना जो कि अगले जन्म का आधार बनेगा बनेगा सकाम कर्म हो रहे हैं मतलब आप जो स्थिति बता रहे हैं अविद्या पूरी नष्ट नहीं हुई है तो सकामता है और सकामता है तो कर्माशय बनेगा और अगला जन्म मिलेगा उसके लिए आवश्यक भी है ताकि अगला जन्म मिले फिर मनुष्य का अच्छा पुण्य है तो मिले और फिर वहां तक कर सके काम संस्कार कारण बनेंगे इसमें और जो दोष है वो भी कारण बनेंगे और अगर पूरी तरह में भाव हो गए तो वो जीवन मुक्त हो ही जाए जीवन मुक्त होगा मरते मुक्ति में जाएगा दूसरा तो ये जो कर्म देह के बारे में आया कि सृष्टि के आरंभ के वेद प्रवक्ताओं को तो जैसा अभी बताया था कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो सीधी आएंगी तो उनको तो कर्म देह तो नहीं माना जाएगा लेकिन जो पवित्र आत्मा है जो सृष्टि से पहले प्रलय की अवस्था के बाद उनका जो पवित्र आत्माओं के रूप में जन्म हुआ है उनको इन्होंने कहा कि कर्म देह उनको माना गया है ऐसा कुछ भेद सा दिखाई अच्छा तो ऐसे ही वो कह रहे हैं तो वो तो मैंने समाधान किया तो संगत नहीं है आगे देखते तो हमने एक सौ पच्चीसवां सूत्र देखा था त्रिधा त्रयाणम व्यवस्था कर्मदेह उपभोग देह और उभय देह तो आत्माओं को भोग होते हैं और कर्म करने का अवसर होता है लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको ना कर्म करने का अवसर होता है ना भोग भोगने का अवसर होता है सूक्ष्म शरीर तो उनके साथ में रहता है लेकिन अभी उन्होंने स्थूल शरीर प्राप्त नहीं किया होता मृत्यु के बाद में पिछला स्थूल शरीर छूट गया और नया स्थूल शरीर मिला नहीं है सूक्ष्म शरीर से वो अभी अपनी यात्रा कर रही है अभी जन्म नहीं है अनुकूल स्थिति नहीं है जहां उसको नया भोग दे मिल सके या कर्म दे उपभोग दे उभय दे मिल सके देह नहीं मिला है उसको ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनके लिए शब्द है अनुशयी आत्मा अनुशयी अनुशयन करती हैं पीछे पीछे शयन बस साथ साथ में रहती हैं वो भी अन्य शरीरों में रहती हैं अन्य शरीरों में भी रह सकती हैं अनुशयी आत्मा जिस आत्मा के भोग के लिए ये शरीर मिला है उसको कहते हैं स्वाभिमानी आत्मा जिस आत्मा के कर्म के फल के रूप में या नए कर्म करने के लिए शरीर मिलता है उस आत्मा को तो कहते हैं स्वाभिमानी आत्मा ये शरीर उसी के लिए मिला है इंद्रियां उसी के लिए मिली है वो आत्मा कहलाती है स्वाभिमानी और उस एक आत्मा के अतिरिक्त जो आत्माएं शरीर में रहती हैं उनको अनुशयी आत्माएं कहते हैं तो वो अनुशयी आत्माएं इन स्थूल शरीरों में रहती हैं लेकिन उनको न तो वहां कोई भोग होता है और न वो वहां पर ही कर्म कर सकती हैं इसके लिए अगला सोच हैं एक सौ छब्बीसवां बोलिए न किंचित अभी अनुशयी न जो अनुशयी आत्माएं हैं उनके लिए किंचित अभी ना न तो कुछ भी भोग होता है ना कुछ भी कर्म होता है तो बस केवल वहां रहती हैं जब उनको अपना स्थूल शरीर मिलेगा तब से उनका भोग या कर्म प्रारंभ होगा तब तक वो भले ही अन्य शरीरों में विद्यमान हो उनका ना तो कोई भोग होता है ना कोई कर्म होता है बस वैसे ही रखी रहती है तो न किंचित अति अनुशयी अनुशयी आत्माओं के लिए कुछ भी नहीं होता कर्म और भोग कुछ नहीं होता उसके लिए मृत्यु के बाद में आत्मा है तो उसके लिए बहुत सारा वर्णन भी मिलता है उपनिषदों के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं मिलती हैं वेदांत में भी ये चर्चा आती है तो वो आत्मा गई उड़ी पानी के साथ भाप बनी भाप के साथ गई बादल के साथ आई पानी के साथ बरस गई खेत में आ गई पौधों के अंदर चली गई अन्न में आ गई अन्न को खाया तो उसके शरीर में चली गई सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा चलती चली जा रही है अभी तक जन्म नहीं हुआ है उसका अब जहां जन्म होगा वहां तो परमात्मा उस आत्मा को भेज देगा जहां है लेकिन जब तक जन्म नहीं होता तब तक वो प्रतीक्षा सूची में है अभी चल रही है चल रही है ऐसे ही तो ऐसी आत्माओं को अनुशयी आत्माएं कहते हैं मृत्यु होते ही जन्म नहीं मिल जाता है ये समाप्त हुआ और तत्काल मिल गया हो भी सकता है नहीं तत्काल विलंब भी हो सकता है जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं है अनुकूल शरीर नहीं मिल रहा है कर्मानुसार जो मिलना है तब तक वो प्रतीक्षा करेगी और फिर ईश्वरीय व्यवस्था से उसको जन्म मिलेगा तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनको अनुशयी कहते हैं वो भले ही दूसरे शरीरों में स्थूल शरीरों में विद्यमान हो तो भी उनका ना तो कोई कर्म होता है क्योंकि उनका वहां कर्म का अधिकार ही नहीं है उनके कर्म के है के अनुसार वो शरीर को ना मिला है वो भिन्न आत्मा के कर्म के अनुसार शरीर मिला है वो ही उसमें भोग करेगा दूसरा और वो ही उस शरीर का उपयोग करते हुए कर्म करेगा तो अनुशयी आत्माओं का न कर्म होता है न भोग होता है ये सूत्र में बताया गया हाँ दो दो के अनेक हो सकती है हाँ डरना नहीं हमको हमारे शरीर में पता नहीं कितनी अनुशयी आत्माएं हैं होंगी तो होंगी उनका कोई भोग नहीं है हमारा कोई भोग छीन नहीं सकती होंगी और इस शरीर में वो कुछ कर्म कर नहीं सकती है उनका होना ना होना हमारे लिए कोई बाधक नहीं है कोई आपत्ति नहीं है वो पेड़ों में हो सकती हैं किसी शरीर में हो सकती हैं कहीं मिट्टी में हो सकती हैं कहीं गोबर में हो सकती हैं कहीं कहीं भी हो सकती हैं रखिए उनको भी कुछ पर पता नहीं लगता है वो भी सुखते हैं तो सुषुप्ति बातें हैं उनको भी ना कोई सुख है ना दुख है ना कोई कर्म कर सकते हैं कोई बोध नहीं है उनको तो पड़ी है बस वैसे और कर्म जब उनका आएगा परमात्मा उनको उस शरीर में भेज देगा उस गर्भ में भेज देगा ना उनको कोई पीड़ा है और वो दूसरों को नहीं दे सकती पीड़ा न वो किसी का भोग भोग सकती है न वो दूसरों के शरीर में अधिकार करके वहां कुछ कर्म कर सकती है वो है न किंचित अभी अनुशरीर बोलिए उनको दे दीजिए और कौन है दूसरे अच्छा, बोलिए ये जो अनुषयी आत्मा कही जा रही है यहाँ पर ये हमारे देशों में कहीं भी रह सकती है कहीं भी रह सकती है प्रवेश करने का क्या तरीका है अन्न के साथ में पानी के साथ में कैसे श्वास के साथ में कैसे भी कर फिर निकलेगी कैसे पसीने के साथ निकलेगी कैसे भी निकल जाएगी किसी भी स्त्राव से निकल सकती है हमारे मरने के बाद में निकल सकती है कैसे भी निकल जाएगी हमारी किसी अनुभूति में उसका कोई सहयोग नहीं कुछ नहीं है न किंचित अपनी अनुशयना हम्म। आचार्य जी जैसे अनुशयी आत्माएं आप बता रहे हैं कि जन्म उनको भी कोई शरीर नहीं मिला होता है पर ऐसा सुना है कि जैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ता है तुरंत उसको दूसरा शरीर मिलता है ऐसा नहीं है और दूसरा कि जब प्रलय अवस्था में कोई शरीर शरीर नहीं होते हैं प्रकृति अपने मूल रूप में आ जाती है उस समय भी तो आत्माएं मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है पड़ी रहती है तो फिर इस समय भी वो आत्माएं जिनका जन्म नहीं हुआ है जिनको शरीर अभी नहीं मिला उनको किसी और शरीर में भेजने की या उनको किसी और शरीर में आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है वो वैसे भी तो रह सकती है वहां रह सकती है ऐसा कौन ना कहा गया कि वो शरीर में ही रहती है ऐसा कौन ना कहा या मिट्टी में भी रह सकती है पानी में भी रह सकती है पत्ते के ऊपर भी रह सकती है धूल के कण पर भी कहीं भी और तो वहां रह सकती है तो शरीर में भी रह सकती है यहाँ क्यों नहीं कहीं भी रह सकती है ऐसा तो कहा ही नहीं गया कि वो दूसरे शरीरों में रहती है कहीं भी रह सकती है और जब वो शरीरों में रहती है चाहे पेड़ के चाहे हमारे तब उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं जब शरीर में साथ साथ में है बाहर भी है तो भी कह लीजिए अनुशयी आत्मा अभी शरीर को प्राप्ति के लिए प्रतीक्षारत हैं तो ये भी उनका कर्म फल है कि उनको अभी शरीर नहीं मिला नहीं अनुकूल परिस्थिति अभी नहीं मिली इसलिए जैसा उनका कर्म है वैसा अनुकूलता तो होनी चाहिए ना अनुकूलता किस तरह जैसे कि जैसे मतलब तो मतलब कि जो शरीर अब मान लो किसान ने बीज ही नहीं बोया है और किसान ने कहा कि मैं तो एक दिन बाद में बोऊंगा अब उन बीजों में जो आत्माएं जानी है गेहूं की वो एक दिन बाद दस दिन बाद भी बो देते हैं पंद्रह दिन बाद भी बोते हैं जब वो बोएगा पानी डालेगा तभी तो परमात्मा आत्मा को भेजेगा वहां पर कि हाँ ये जीवन शुरू हो रहा है और यहाँ भेजेगा ऐसे ही बाकी जगह भी लगा दीजिए उनका उन आत्माओं का जन्म लेना किसी दूसरे के कर्म पर भी निर्भर होंगे बिल्कुल होता है परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहता है हमेशा यूनिफॉर्म ही होता है परमात्मा कर्मानुसार फल देता है लेकिन मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र भी तो कर रखा है उसमें भी तो बाधा नहीं करते तो जब अनुकूल स्थिति होगी जब गर्भाधान होगा तभी तो आत्मा जाएगी वहां पर ऐसे कैसे चली जाएगी वो अनुकूलता तो होनी चाहिए वो मनुष्यों के कर्म पर निर्भर है वहां बाध्यता नहीं है इस आत्मा को जन्म लेना है इसी समय गर्भाधान होना है ऐसा थोड़ा है मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है कभी भी कर सकता है गर्भाधान बीजों को कभी भी हो सकता है तो जब अनुकूल स्थिति बनेगी तब वो आत्मा परमात्मा वहां भेजेगा तब तक प्रतीक्षा करेगा जब ऐसी कोई आत्मा है जिसको बहुत अच्छा शरीर मिलना है अच्छे माता पिता है तो मान लो वैसे माता पिता ही नहीं है तो प्रतीक्षा करेगा और क्या है और क्या है ऐसी बहुत आत्माएं बहुत आत्माएं प्रतीक्षारत हैं ऐसे अच्छे माता पिता बने इतनी पवित्र भावना वाले और कि हम ऐसी शुद्ध आत्मा का आह्वान करते हैं खुद ऐसा जीवन जिए और फिर संतान को उत्पन्न करें तो ऐसी विशेष स्थिति होगी तो परमात्मा उस आत्मा को भेज देगा वहां पर उस परिवार में तो कर्मों के अनुसार है ना बच्चे आप आत्मा के कर्मों के अनुसार भी माता पिता मिलते हैं और माता पिता के कर्मों के अनुसार भी वो उस तरह के संस्कार वाली आत्मा आती है दोनों का आपस में संबंध बनता है तालमेल भी बनाते हैं तो ऐसा जब जब होगा तब तक हो जाएगा ठीक है तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ती सबके साथ है आचार्य हाँ, जी जो इसमें बता रहे हैं कि आत्मा दूसरे के शरीरों में भी रह सकती है तो जैसे ब्रह्मचारी कृष्ण के शरीर से दो तीन आवाज आती थी बोलते थे उनके शिष्य लोमस ऋषि महानंद तो फिर क्या ये क्रिया कर सकती है या उसे गलत समझे क्या समझे नहीं होना चाहिए ये अनुशयी आत्माएं तो नहीं हो सकती तो अनुशयी आत्माओं के प्रसंग में कहा जा रहा है तो एक स्वाभिमानी आत्मा हर शरीर में रहती है एक एक अपनी अपनी हम सबकी एक एक आत्मा है हाँ हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव है वो अलग अलग शरीर है उनकी अपनी अपनी आत्माएं अलग हैं वो स्वाभिमानी आत्माएं हैं वो अनुषयी आत्माएं नहीं है हमारे शरीर में जो कीड़े पड़ जाए कोई सूक्ष्म जीव हो वो तो सब शरीर है स्वतंत्र स्थूल देह है और उनकी स्वाभिमानी आत्मा अलग अलग है ये उससे अतिरिक्त बिना शरीर स्थूल शरीर वाली जो आत्मा है वो अनुशयी है और वो ना तो कुछ कर्म कर सकती है वहां ना भोग कर सकती है बाकी जो कुछ घटनाएं हैं उनकी व्याख्या क्या हो सकती है वो अलग विषय है ही आत्माएं तो नहीं कर सकती और कोई जी सौ अनुशयी आत्मा कहते हैं जो शरीर में रहे किसी शरीर में पेट में कहीं भी तो जो ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि आवश्यकता कहीं भी ईश्वर व्यवस्था में रहती है आत्मा रह सकती है ना तो शरीर में ही रहना उनका क्या ये भौतिक नजर नहीं ऐसा ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शरीर में रहना आवश्यक है ऐसा नहीं कहा इन्होंने तो अनुशयी माने शरीर में रहने होगी तब उसको अनुशयी कहेंगे जी हाँ वो आत्माएं ऐसी आत्माएं जो अभी प्रतीक्षारत हैं वो शरीर में भी तो आ सकती हैं या शरीर में नहीं आएंगी वो आ सकती है ना कहीं भी आ सकती है कहीं भी रह सकती है ईश्वर की व्यवस्था से रह रही कहीं भी वो ईश्वरीय क्या वो प्राकृतिक जो जहां चल रही है सूक्ष्म शरीर साथ में है ईश्वरीय व्यवस्था से तो उसको जन्म मिलेगा उस शरीर में जो अनुसही बन रही है व्यवस्था तो ना उसमें कोई व्यवस्था नहीं है वो कोई कर्म के अनुसार कोई आत्मा इसी शरीर में ही बने ये यहाँ बने ये कोई कर्म की व्यवस्था ही नहीं है क्योंकि कर्म के अनुसार होता तो भोग या कर्म फिर लग जाता इसका न किंचित अभी अनुशयना का मतलब वहां ना तो कोई भोग है ना कर्म है भोग नहीं है इससे पता लग रहा है कि किसी कर्म के आधार पर वो वहां नहीं है तो नियंत्रित नहीं है अनियंत्रित है प्राकृतिक स्वभाव तय जा रही है जहां है क्योंकि ये वर्णन सारे उपनिषद के तो ऐसे ही मिलते हैं तो इसलिए और अगर उसको हम माने भी तो अंत में जब वो जन्म देना है कहां उसको ले जाना है तब परमात्मा नियंत्रित रूप से कहीं भी ले जा सकता है तो अनियंत्रित कहेंगे क्या कहीं भी चली जाए कहीं भी जाए स्वतंत्रता होगी उसको कुछ स्वतंत्रता नहीं उसको तो पता ही नहीं है शरीर में रहे कहीं भी रहे कहीं भी रह सकते किसी का कोई नियंत्रण नहीं उससे को, कोई कोई मतलब नहीं है कोई उससे समझ में दिया जाता उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप तो शरीर में को कर्म करने का भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा है स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता नहीं दी है इसको देखिए स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि वो अनुशयी आत्माएं कुछ करने ना करने अन्यथा करने में स्वतंत्र हो वो कुछ कर नहीं सकती उनको स्वतंत्र शब्द का अर्थ वहां नहीं दीजिए अब वायु के कण हैं ये स्वतंत्र हैं या नहीं है तो क्या आत्मा भी कड़ी है हो रही है ये ये सामने नहीं ना जनता नहीं कह रहा हूं मैं मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको कि वायु का कण पेड़ से टूटा हुआ पत्ता स्वतंत्र है कहीं भी गिरने में तो उसको कुछ ज्ञान नहीं स्वतंत्र उसको कुछ ज्ञान नहीं है क्योंकि वो जड़ है लेकिन फिर भी कहीं भी गिर सकता है वो निर्धारित नहीं है कि ये पत्ता टूट के ही गिरेगा जैसी परिस्थिति हवा वेग होगा उसके अनुसार कहीं भी गिरेगा ऐसे ही ये आत्मा यद्यपि चेतन है लेकिन इसको कोई बोध ही नहीं है अपना ये कुछ कर नहीं सकती है वहां पर अपने कुछ सक्रिय स्कूल शरीर तो है नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं मैं यहाँ चले जाऊं ऐसा कुछ कर नहीं सकती है वो सूक्ष्म शरीर तो है ना उसके साथ सूक्ष्म शरीर से कुछ नहीं कर सकती वो विषय पहले आया था इस बात की व्यवस्था से सूक्ष्म शरीर जहाँ ले जाएगा वहां जाएगी वो भी एक व्याख्या कर सकते हैं स्वामी जी की ईश्वर जहां ले जाएगा जाएगा मैं आपको उपनिषद के वचन पढ़ के बताऊं उसमें कहीं भी ईश्वर का नहीं लिखा है कौन ले जाएगा कैसे जाएगा आपका कोई तो कुछ ज्ञान है नहीं पत्ता कैसे चला जाता है तो चला गया इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे वैसे ही आत्मा भी चली जाती है और उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके शरीर में है और वो मिट्टी में है या पेड़ में है या वहां उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां ये नियंत्रण नहीं है किसी का ये समझ में नहीं आता है वो व्यवस्था ही है नियंत्रण क्या व्यवस्था ही है वो हम हम एक टंकी में गेहूं भर रहे हैं वो हमारी व्यवस्था है अव्यवस्था है टंकी में गेहूं भर रहे हैं उसकी व्यवस्था है या व्यवस्था है भर रहे हैं व्यवस्था है व्यवस्था है कौन सा गेहूं किस जगह रहेगा ये हमने व्यवस्थित किया है वहां दिए कौन सा गेहूं कहाँ ये नीचे ये बगल में ये यहाँ पर सब भर रहा है हमने ऊपर नीचे रखे हैं वहां रखे हैं वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे उससे कोई फर्क पड़ रहा है ना ना हमारे को ना गेहूं को हाँ। परमात्मा के लिए ये टंकी की तरह से है सारा ब्रह्मांड छोटा सा वो आत्माएं कहीं भी रखी है रखी है उसमें कोई फर्क नहीं इसको हाँ। अव्यवस्था नहीं कहते कि गेहूं कोई कह नहीं इस गेहूं को आपने ऊपर क्यों रखा इसको नीचे रखो ये तो अव्यवस्था है ऐसे रखो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और तो टंकी में है ये प्रयोजन है यहाँ है परमात्मा के नियंत्रण में वो आत्मा सदा है जब उसको जहां जन्म देना है वहां ले जाकर के दे देंगे इसको अव्यवस्था नहीं कहते स्वामी वो चेतन है वो जब है जब तक करता नहीं है उनको क्या करना है ये तो चेतन है चेतन है लेकिन चूंकि साधन नहीं है इसलिए कुछ कर नहीं सकती ना जान सकती तभी तो कह रहे हैं ना किंचित अभी अनुशयी ना कि चेतन है तो भोग भी होना चाहिए चेतन है तो कर्म भी होना चाहिए कर्म और भोग का स्पष्ट निषेध कर रहे हैं यही तो बात बतानी पड़ रही है इनको क्योंकि ऐसा कोई सोच सकता है कि शरीर में है तो उसका भी भोग होना चाहिए कर्म होना चाहिए कोई व्यवस्था ये ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसी है ऐसे लग रहा है यहाँ तक पहुँच गया तो नहीं है तो यहाँ तक पहुँच गया क्या नहीं यहाँ तक पहुँच गया क्या समझता है ऊपर से तो नहीं है कहीं वो हो जाए कहीं भिक्षा में हो जाए कुछ पता ही नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे एक और दूसरा भी प्रश्न कहते हैं जो कहा जाता है कि किसान से गया अभर में गया दल के साथ वक्त गया और किसी भी पेड़ में पौधे में जाके उग गया और तो जो भी खा ले कोई भी खा लेगा तो उसके भीड़ में जाएगा उससे वैसी संतान बनेगी तो ईश्वर का नियंत्रण कहाँ है अच्छा, ये तो मैं इसका समर्थन तो कर ही नहीं रहा हूँ वो भी वैसी क्रिया है हाँ, उसमें एक अंतर है स्वामी जी ने इसी में एक बात और जोड़ी जो सुनी जाती है उपनिषद आदि पढ़ी में आती है मान लीजिए मान लीजिए पेड़ में है और उस पेड़ को किसी ने खा लिया मनुष्य ने खा लिया तो मनुष्य में चली गई पशु ने खा लिया तो पशु में चली गई ठीक है और फिर वैसी संतति हो गई उनकी वो आत्मा उसी वही बन गई पशु में गई तो पशु बन गई मनुष्य में गई तो मनुष्य बन गई तो ये कहां व्यवस्था रही है स्वामी जी का प्रश्न है इस सब वर्णन में मैं एक बार दो तीन बार मैंने बोली क्योंकि नहीं तो अव्यवस्था लगेगी जो आपको तो कह रहे हैं कि ये तो यूं चलती रहेंगी और जब उसके कर्म के अनुरूप जहां जन्म देना होगा वहां परमात्मा उसको पहुंचा देगा ये बात साथ में जोड़ते हुए मैं बोल रहा था अगर इसको नहीं मानेंगे तो व्यवस्था रहेगी जो आप बोल रहे हैं वो है अव्यवस्था अगर ऐसा ही देखेंगे तो।, तो उपनिषद में नहीं लिखा है कि वो वहां पहुंचा देगा लेकिन ये मैं साथ में क्यों बोल रहा था क्योंकि हमें पता है कि जन्म लेना कर्म के अनुसार होता है ये दृढ़ सिद्धांत है कर्मानुसार जन्म होता है और कर्म की जन्म की व्यवस्था परमात्मा ही करता है तो भले ही इनमें नहीं लिखा हुआ है कि परमात्मा वहां ले जा रहा है यहां तो सामान्य वर्णन कर रहे हैं जैसे कि पत्ते घूम रहे हैं या धूल उड़ रही है कहीं भी जाके टिक गई कहीं भी उड़ गई ये अन्य सारे सिद्धांत के अनुसार हम साथ में जोड़ देंगे और अब ये सिद्धांत विरुद्ध नहीं लगेगा उससे पहले तक जब तक उसका जन्म का समय नहीं आता है तब तक तो वो इधर उधर घूमती रहेगी जहां भी जानी है उसको अव्यवस्था भी नहीं कहते जो आपको वहां आपत्ति लग रही थी जब जन्म का समय आएगा उपयुक्त स्थिति बनेगी परमात्मा उसको वहां भेज देगा कर्मानुसार भेज देगा इसलिए कोई अव्यवस्था भी नहीं है तो तक जो हो रहा है अव्यवस्था नहीं थी वहां आएगा उस में जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्वामी जी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है पानी की टंकी में पानी की कौन सी बूंद ऊपर है या नीचे है रखा है जब नल चलाना है आएगा जब लेना है तब ले लेंगे जितना लेना है ले लेंगे ये व्यवस्था है उस टंकी में पानी कैसा कहाँ कहाँ है इसमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी इसी को अनुसयी कहते हैं जी हाँ जब ये ऐसी आत्माएं जो कि सूक्ष्म शरीर से युक्त है सूक्ष्म शरीर से युक्त जो आत्माएं हैं जिनको भी स्थूल शरीर नहीं मिला और ऐसे जहां है अगर वो किसी शरीर में है उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं और उसका ना तो कोई कर्म होता है ना वहां पर भोग जैसे भी स्थूल शरीर में आ चुकी है वो अभी लेकिन वो उसके कर्म के लिए नहीं है कर्मानुसार नहीं है इसलिए न कर्म है ना भोग ये ईश्वर की व्यवस्था है वहां पर आप चाहें तो ये देख सकते हैं कहीं भी चले गए और अव्यवस्था है व्यवस्था ये है कि वो भले ही शरीर में पहुंच गई तो भी न तो कर्म कर सकती उस शरीर में न भोग भोग सकती जिस आत्मा के लिए परमात्मा ने वो शरीर दिया है वही कर्म करेगा वही भोगेगा ये व्यवस्था है वहां पर भी वहीं से आगे थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ तक अंश भी है और फिर तो संतान्य को कोई खाता है जी उसी के रतिदि से फिर संतान है अब उसमें आत्मा मैंने वहां एक चीज बीच में जोड़ दी है अब जो जन्म होगा वो कर्मानुसार ही होगा वहां इस प्रवाह को नहीं लेंगे जिसने भी खा लिया और उससे जो संतान उत्पन्न हुई और वही बन गया वो ऐसा नहीं ये कंकल व्यवस्था के विपरीत चिंता है वहां नहीं लगेगी नहीं लगेगी वो नहीं होगा वहां हमें ईश्वर की व्यवस्था माननी ही पड़ेगी जब जन्म का समय आएगा तब उस आत्मा को परमात्मा उस उस शरीर में पहुंचाएगा चाहे अभी पशु शरीर में हो चाहे मनुष्य शरीर में हो तो उसको तो कर्म के अनुसार जन्म मिलना है वेदांत में ये भी चर्चा आती है कि भाई आप इनको अन्न में और इसमें अनुषयी आत्माएं मान रहे हो तो जब हम उसको कूटते हैं पीटते हैं पीसते हैं खाना बनाते हैं पकाते हैं तो उससे हिंसा नहीं होती है बोले उसमें कोई हिंसा नहीं होती ये सारा प्रसंग वेदांत में भी है वहां विस्तार से है और हिंसा हिंसा की भी बात आई है क्यों नहीं होती क्योंकि उनको कुछ वहां भोग ही नहीं होता है उस गेहूं में और में किसी में भी आप कितना ही कूटो पीटो पीसो उससे उनको कोई दुख नहीं होता ना कोई इससे हिंसा होती है है है बस रखिए उससे आत्मा को क्या फर्क पड़ना है सूक्ष्म शरीर को कोई भी फर्क नहीं आएगा आप कितना ही पीस लो उसको काटे मैदा बना लो कुछ भी बना लो पका लो आग में अग्नि में होम कर दो उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको जिस वनस्पति में कोई आत्मा है और हम तोड़ के ले आए और हमने अपनी सवन सामग्री में डाल लिया और हम आहुति दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई हिंसा ही नहीं है स्थूल शरीर में आत्मा है और फिर हम उसको मारते हैं तो ये हिंसा के अंदर आएगा पर फिर भी ये अनुशयी आत्मा वाला विषय परोक्ष विषय है इसमें पूरा पूरा निश्चय नहीं हो पाता है जो कुछ उदाहरण मिलते हैं जैसा समझ में आया वो कुछ बातें आपके सामने रखी अगला सूत्र तो बोलिए मतलब हमारे शरीर में कीड़ों के रूप में आ जाते हैं जैसे रिंगवर्म वगैरह जो भी तो इंसान को परेशान करते हैं तो ये भोग ये कैसे माने जाते वो भोग क्यों नहीं आए वो भोग नहीं आए हम्म। उनके जो मान लो कोई कैचुआ है रिंगवर्म है कोई भी कीड़ा है छोटा बड़ा उनका अपना अपना शरीर है और वहां जो आत्मा है वो उसका वो शरीर है उसकी वो स्वाभिमानी आत्मा है हम्म। जैसे कि कीड़े मकोड़े बाहर रहते हैं ऐसे शरीर में भी रहते हैं वो इंसान का अपना भोग होता है तो उसकी वजह से नहीं इंसान के भोग के नहीं बोलो वो जो कीड़े हैं उनका अपना अपना भोग होता है एक तो ये हाँ अब हमने असावधानी रखी हाथ साफ नहीं किए गंदगी की हमने वैसे ही खा लिया हाथ धोए बिना अंदर चला गया तो उसका कोई कर्माशय था इसलिए हमने खाया हो ऐसा नहीं है उसका कर्माशय था भोग भोगना था इसलिए हमने हाथ नहीं धोए और इसलिए वो अंदर चला गया ऐसा नहीं हमारे भोग के कारण भी नहीं हमारी असावधानी से वो चला गया यहाँ नहीं तो वो दूसरी जगह रहता कहीं भी रहता उसका अपना भोग चल रहा है या भिन्न भिन्न स्थितियों में हमारे अंदर चला गया तो वहां उस तरह का भोग हो जाएगा बाहर है तो बाहर हो जाएगा तो, तो अंडे के रूप में जाते अंदर हो जाते हैं वो अंडे से जाए जैसे भी जाए लेकिन उसके कर्म का भोग हमारे शरीर में ही था इसलिए वो अंदर गया ऐसा नहीं और हमारा भी कोई भोग था इसलिए वो हमारे अंदर गया है ऐसा भी नहीं ये हमारी असावधानी के कारण से हमारे दांतों में ये जो सफेद सफेद जम जाता है उसमें कितने सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी जीव के ऊपर कितने सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी चमड़ी पे कितने सूक्ष्म जीव हैं लाखों करोड़ संख्या ही नहीं इतने सारे उनके अपने अपने शरीर हैं वो अनुशयी आत्माएं नहीं है वो स्वाभिमानी आत्मा उनके अपने अपने शरीर हैं उनके अपना भोग चल रहा है ये बात उनकी चल रही है जिनके स्कूल शरीर नहीं मिले हैं अभी और वैसे ही अभी स्कूल शरीर प्राप्ति की प्रतीक्षा में है वो अनुशयी ठीक है अध्याय तो समाप्त होने नहीं देंगे आप पूरा ठीक है चलो प्रणाम